यह लघु जलधि तरत कति बारा सुनि पुनि कह पवन कुमार प्रताप बड़वानल भारे उ प्रथम पयो निधि बारी तवरि पुनारि रुदन जलधारा धरऊ बहोरी भयऊत शिखारा सुनियति कुत पवन सुत के रे से कपि रघुपति तन हेरी फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा प्रभु का प्रताप भारी बड़वानल समुद्र की आग के समान है इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया और उसी से खारा भी हो गया हनुमान जी की यह अत्युक्ति अलंकारपूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए जामवन्त बोले दो भाई नलनी लहि सब कथा सुनाई राम प्रताप सुमिर मन माहे प्रयास प्रयाहि बोल लि कपिन कर बहोरी सकल सुनहु बिनती कछु मोरी राम चरण पंकज उर धरहु कौतुक एक भालु कपिकरहु जाम्बवान ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा कह सुनाई और कहा मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए धावहु मर कट बिकट बरू था आनहु बिटप जूठा सुनि कपि भले करहुहा रघुबीर जय रघुबीर प्रताप समूह अति उतङ्ग गिरिपादप लिन्हीम लीलहि आन दे नल नीलहे रचहित से तू बनाए विकट बानरों के समूह आप दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूहों को उखाड़ लाइए यह सुनकर वानर और भालू हु हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम जी की जय पुकारते हुए चले बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला ला कर नल नील को देते हैं वे अच्छी तरह गढ़ कर सुंदर सेतु बनाते हैं विशाल आन कपि देहि कन्दुक इव नल नील तिले सुन्दर रचना बिहसि निधि बोले परम रम्य उत्तम यह धरणी महिमा अमित जाय नहीं बरनी करिहूँ यहाँ शंभु थापना मोरे हृदय परम कल्पना वानर बड़े बड़े पहाड़ ला ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले यह यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा मेरे हृदय में यह महान संकल्प है पठाए मुनिबर सकल बोल आए लिङ्गथापि विधिवत शिव समान प्रिय मोहिन दूजा शिवद्रोही मम भगत कहावा सोनर हु मोहिन पावा विमुख भगति चह मोरी सुनार की मूढ़मति मोर थोरी जो शिव जी से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है वह नर नरकगामी मूर्ख और अल्पबुद्धि है शंकर प्रिय मम द्रोहे द्रोही मम दास ते नर कर कलप भरी घोर नरक महबास जिनको शंकर जी प्रिय हैं परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं